जैन बोध कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक तेईस आत्मिक विस्फोट की पात्रता भाग एक भगवान श्री जैन साधक बंजान बाजार से गुजर रहा था एक कसाई और एक ग्राहक की बातचीत उसके कानों में पड़ी ग्राहक ने कहा मुझे सर्वश्रेष्ठ मांस का टुकड़ा ही देना कसाई बोला मेरी दुकान में सब कुछ श्रेष्ठ ही है यहाँ कुछ भी नहीं है जो सर्वश्रेष्ठ नहीं बस इतना सुनकर बंजान ज्ञान को उपलब्ध हो गया भगवान श्री इस बोध कथा का मर्म समझाने की अनुकंपा करें परम ज्ञान की घटना किसी भी क्षण घट सकती कहावत है कि एक छोटा सा दिन का भी ऊंट को बिठा सकता है लेकिन वो आखिरी दिन का होना चाहिए ऊंट पर वजन को रखते जाओ रखते जाओ सहता जाएगा एक सीमा है फिर आखिरी तिनका भी उसे बिठा देगा जब सीमा के पार हो जाएगा बर्तन में पानी को भरते जाओ भरते जाओ फिर एक सीमा है उसके बाद एक बूंद भी ज्यादा बर्तन में पानी ना समा सकेगा फिर एक बूंद भी बर्तन के बाहर पानी को ले आएगी आखिरी बूंद आखिरी तिनका क्रांतिकारी सिद्ध होता है पानी को तुम गर्म करते हो होता है गर्म एक डिग्री से निन्यानबे डिग्री तक लेकिन भाप नहीं बनता आखिरी डिग्री सौवीं डिग्री और पानी एक छलांग लेता है क्रांति घटती है पानी भाप बन जाता है आखिरी डिग्री में और पहली डिग्री में क्या कोई फर्क है गर्मी वही है पहली डिग्री में भी उतनी ही गर्मी है जितनी आखिरी डिग्री में पहले तुम पत्थर भी रखते रहे ऊंट पर तो वो न बैठा और आखिरी तिनके ने बिठा दिया तिनके में क्या कोई ज्यादा वजन सवाल तिनके का नहीं है सवाल ऊंट की सामर्थ्य का है आखिरी सीमा फिर छोटी सी घटना भी क्रांति बन जाती इस बात को ख्याल में ले लो फिर यह कहानी समझ में आ जाएगी अन्यथा कहानी बड़ी बेबूझ है और जेन में ऐसी बहुत सी कथाएं और ध्यान रखना ये कथाएं ऐतिहासिक घटनाएं हैं कहानियां नहीं ऐसा हुआ है और ऐसा जेन साधकों को ही हुआ है ऐसा नहीं दुनिया में हर कोने में जहां भी लोगों को परम ज्ञान उपलब्ध हुआ है ऐसी घटनाएं घटी कोई छोटी सी बात क्रांति बन जाती अगर बात को सीधा समझो तो वो तिन का है उससे ऊंट कैसे बैठेगा अगर गर्मी को सीधा नापो तो वो एक ही डिग्री है चाहे पहली हो चाहे सौवीं डिग्री हो उससे पानी भाप कैसे बनेगा लेकिन देखना पड़ेगा किसके जीवन में क्रांति घटी वो कहां था अगर तुम इक्यानबे डिग्री पर हो तो वही डिग्री तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा गर्म करके रह जाएगी तुम बानबे डिग्री पर गर्म हो जाओगे लेकिन जो निन्यानबे डिग्री पर है वही डिग्री उसे क्रांति घटा देगी तुम्हारी समझ में ना आएगा तुम एक तिनका ऊंट पर रख दो ऊंट पर कोई वजन नहीं है ऊंट को तिनके का पता ही ना चलेगा और वो बहुत चकित होगा ये सुन के कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि तिनके के बोझ से ऊंट बैठ गए वो हंसेगा पागल हो गए हो तिनके का वजन पता ही नहीं चलता ऊंट बैठेंगे कैसे लेकिन अगर ऊंट पहले से ही लदा हो और आखिरी घड़ी आ गई हो सामर्थ्य की सीमा आ गई हो तो एक तिनका भी काफी सवाल तिनके का नहीं सवाल तुम्हारी मनोदशा का है अगर कोई व्यक्ति खोज रहा है खोज रहा है खोजता जा रहा है और उसने अपनी सारी सामर्थ्य लगा दी है खोज में कुछ बचाया नहीं इसे ठीक से ख्याल में ले लेना तुम सदा बचा के चलते हो इसलिए चूक रहे हो जन्मों जन्मों से इस जन्म में भी चूक जाओगे अगर बचाया क्योंकि तुम्हारा ऊंट कभी पूरा लदा हुआ ना होगा आखिरी तिनका कभी आखिरी तिनका सिद्ध ना होगा तुम्हारा पानी कुनकुना ही होगा कभी निन्यानबे डिग्री तक न उगलेगा इसलिए आखिरी डिग्री तुम में क्रांति न ला सकेगी तुम्हें बुद्ध भी मिल जाए तो भी तुम बैठोगे नहीं तुम्हें कृष्ण भी मिल जाए तो भी तुम भावना बनोगे और कभी कभी ऐसा हुआ है कि एक कसाई की चर्चा से कोई संबोधि को उपलब्ध हो गया कहा जाता है कि लाओ से एक वृक्ष के नीचे बैठा था और एक सूखा पत्ता वृक्ष से टूटा हवा के झोंके में और गिरने लगा उस लंबे वृक्ष से सूखे पत्ते के गिरने को देखते देखते देखते जब तक वृक्ष से पत्ता जमीन तक आया तब तक लाव से ज्ञान को उपलब्ध हो चुका था यह ऊंट पूरा लगा होगा अन्यथा एक सूखा पत्ता किसको ज्ञान दे सकता तुम बैठे हो उस वृक्ष के नीचे सारे पत्ते भी सूख के गिर जाएं तो भी तो कुछ ना होगा एक जैन फकीर स्त्री पानी भर के लौटती थी कंधे पर कांवर रखी थी दोनों तरफ मिट्टी के घड़े लटके थे और अचानक कांवर टूट गई पूरे चांद की रात थी घड़ा गिरा फूट गया इधर घड़ा फूटा उधर उसके भीतर कोई क्रांति घट गई वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गई एक घड़े के टूटने की आवाज ये पानी का बिखर जाना बस क्रांति घट गई तुम कहोगे अगर क्रांति ऐसे घटती हो तो हम सारे बाजार में जितने घड़े हो खरीद लाएं सभी को तोड़ डालें नहीं तब तुम चूक गए और इसी तरह धार्मिक लोग चूकते रहे सभी रिचुअल सभी क्रियाकांड इसी भ्रांति से पैदा होते क्योंकि एक आदमी के जीवन में किसी बात से क्रांति घटती कोई आदमी राम राम राम कहते क्रांति को उपलब्ध हुआ कहते हैं वाल्मीकि भूल ही गया ठीक उच्चारण तो राम न कह के मरा मरा मरा कहता रहा और क्रांति को उपलब्ध हुआ तो तुम भी दोहराते रहो ठीक वाल्मीकि जैसा मरा मरा कहो या सुधार के कहो राम राम तो भी तुम क्रांति को उपलब्ध ना हो जाओगे वाल्मीकि के लिए यह घटना आखिरी तिनका थी तुम्हारी सारी शक्ति जब लग जाए कुछ ना बचे कुछ लगाने को ना बचे तुमने अपने को पूरा ही दांव पर रख दिया फिर किसी भी चीज से क्रांति घट जाएगी और फिर तुम्हें किसी का अनुकरण करने की जरूरत नहीं और प्रत्येक व्यक्ति को क्रांति अनूठे कारणों से घटेगी क्योंकि जिंदगी बड़ी है बहुत बड़ी है बहुत विराट है यहां प्रतिपल घटनाएं घट रही कब तुम्हारी क्रांति का क्षण आ जाएगा ये तुम पर निर्भर है घटनाओं पर नहीं घटना तो संयोगिक है कि तुम्हें बाजार में घटेगी कि जंगल में घटेगी बिल्कुल संयोगिक है बुद्ध सिद्धासन में बैठे थे तब घटना घटी फिर न मालूम हजारों लोग सिद्धासन में बैठे रहते इस आशा में कि घटना घटे वो पागल है ये तो संयोग था कि बुद्ध सिद्धासन में बैठे थे उनकी पूरी शक्ति लग गई महावीर को तो बहुत अजीब आसन में घटना घटी गो दोहासन जैसा कि कोई गाय से दूध दोहता है तब बैठता है ऐसे महावीर बैठे थे पता नहीं क्या कर रहे थे गोदोहासन में कोई बैठता भी नहीं शायद बैठ ही रहे होंगे खड़े रहे होंगे बैठने जा रहे होंगे जब स्थिति गोदोहासन की थी तब क्रांति घट गई फिर न मालूम कितने लोग गोदोहासन में बैठ के आशा रखते रहे कि क्रांति घट जाए भूल हो जाती तुम तिनके की फिक्र करते हो अपनी फिक्र करना तिनके का कोई भी मूल्य नहीं है मूल्य है कि तुम्हारी सारी शक्ति लग गई हो कुछ ना बचा हो तो हवा का एक झोंका और तुम दूसरे हो जाओगे एक सूखे पत्ते का गिरना पुराना मर जाएगा तुम्हारे भीतर नए का जन्म हो जाएगा ये तो पहली बात समझ लो दूसरी बात इसके पहले कि इस कहानी में प्रवेश तो यह समझ लेनी जरूरी है कि मन का सारा खेल तुलना पर कंपैरिजन पर खड़ा है जब तक तुम तुलना करते रहोगे तब से तब तक मन से छुटकारा नहीं मन कहता है ये भला ये बुरा ये सुंदर ये कुरूप ये श्रेयस्कर ये अश्रेयस्कर इसे चुनो इसे छोड़ो मन कहता है ये स्वर्ग ये नर्क मन कहता है ये राम ये रावण मन बांटता है और जब तुम मन की सुन ले तो तुम भी बढ़ जाते हो तुम तब तक बटे हुए ही रहोगे जब तक तुम मन की सुनोगे क्योंकि मन कहता है ये ठीक और ये गलत गलत को नहीं करना है ठीक को करना है ये विभाजन मन बाहरी नहीं कर रहा है इस विभाजन के लिए तुम अगर राजी हुए तो विभाजन भीतर भी हुआ जा रहा है मन बाहर भी बांटता है भीतर भी बांटता है इसलिए कृष्णमूर्ति निरंतर कहते हैं च्वाइसलेसनेस तुम चुनाव मत करो चुनाव न करने का मौलिक अर्थ होता है तुम तुलना मत करो तुलना की कि चुनाव होगा तुम भेद मत करो और तुम मत कहो कि यह पत्थर है और यह हीरा है और तुम मत कहो कि यह मूल्यवान है और यह निर्मूल्य है क्योंकि जैसे ही तुमने कुछ भी तरह की तुलना खड़ी की तुम बटे अनबटा होना अविभाजित होना अद्वैत की उपलब्धि का मार्ग है तब तुम्हें एक मिलेगा जब तुम एक हो जाओगे जब तक तुम दो हो तब तक सब दो है और तुम हो अनेक इसलिए सब अनेक ये जगत तो एक बड़ा पर्दा है इस पर तुम ही विराट होकर दिखाई पड़ रहे हो ये कहानी कठिन लगती है लेकिन कठिन इसलिए लगती है कि हम ये मान ही नहीं सकते कि एक दुकान में सभी चीजें श्रेष्ठ हैं और दुकानदार कह रहा है कि यहां तो कोई ऐसी चीज ही नहीं जो श्रेष्ठ ना हो सर्वश्रेष्ठ है वो सारी तुलना तोड़ रहा है क्योंकि हम कहेंगे कि होंगी अच्छी लेकिन फिर भी तो तुलना होगी कोई ज्यादा अच्छी होगी कोई कम अच्छी होगी कोई बहुत अच्छी होगी यह तो असंभव है कि दुकान पर सभी चीजें सर्वश्रेष्ठ हों और अगर सभी सर्वश्रेष्ठ हैं तो उनको सर्वश्रेष्ठ कहने का कारण क्या है क्योंकि निकृष्ट के बिना श्रेष्ठ कैसे होगा और जब तक सर्वश्रेष्ठ से नीचे की सीढ़ियां ना हो तब तक सर्वश्रेष्ठ की सीढ़ी कैसे निर्मित होगी जहां शूद्र ना हो वहां ब्राह्मण कैसे होंगे और जहां नीचे की सीढ़ी ना हो वहां ऊपर की सीढ़ी कैसे होगी जहां व्यर्थ ना हो वहां सार्थक कैसे होगा मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन दो स्त्रियों के प्रेम में था और तय नहीं कर पाता था किसको चुने क्योंकि एक बहुत सुंदर थी और एक बहुत धनी थी और मन दोनों तरफ दौड़ता था धन का लोभ भी छूटता नहीं था धन निश्चय ही बहुत था और मन कहता था कि शरीर का सौंदर्य तो दो दिन में बासा पड़ जाएगा धन का सौंदर्य टिकता है दो दिन बाद सुंदर से सुंदर स्त्री भी साधारण मालूम होने लगेगी जब परिचित हो जाओगे लेकिन धन देर तक काम देगा रूप से भी ज्यादा रुपया स्थायी और मन का दूसरा हिस्सा कहता था क्या करोगे रुपए का भी अगर इस कुरूप स्त्री के चक्कर में पड़ गए तो जिंदगी भर रोगे माना कि रूप क्षणभंगुर है पर मूल्यवान है सारा जीवन क्षणभंगुर पर गंवा देने जैसा है रुपए को इकट्ठा भी कर लिया स्थाई भी है तो भी मुर्दा है शायद इसीलिए स्थाई भी क्योंकि जिंदगी तो बदलती और मन बड़ी मुश्किल में था कुछ तय न कर पाता था दोनों स्त्रियां भी बड़ी मुश्किल में थीं कि कैसे तय करें दोनों को उलझाया हुआ था आखिर उन दोनों स्त्रियों ने कहा कि हम कुछ हमें ही कुछ करना पड़े एक दिन नसरुद्दीन को दोनों लेकर नदी पर नाव में बैठ के गई रास्ते में उन्होंने कहा कि नसरुद्दीन अगर नाव डूब जाए और तुम हम दो में से एक को ही बचा सको तो तुम किसको बचाओगे तुम हम दोनों में से किसको सुंदर समझते हो किसको योग्य समझते हो नसरुद्दीन ने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़ के सुंदर तुम दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़ के सुंदर फिर भी उसने कमिट ना किया लेकिन यह कैसे हो सकता है कि दो व्यक्ति एक दूसरे से बढ़ चढ़ के सुंदर यह तो तभी हो सकता है जब मन देखने वाला ना हो जब तक मन है तब तक तो मन कहेगा कि एक कम एक ज्यादा एक नीचे एक ऊपर मन सीढ़ियां बनाता है सभी वर्ण सभी हायरकी मन का निर्माण है मन नंबर एक नंबर दो नंबर तीन मन विभाजित करता है सीढ़ियां बनाता है वर्ण निर्मित करता है वर्ग निर्मित करता है कार्ल मार्क्स लेलिन स्थलिन और माओ जगत में वर्ग विहीन समाज बनाना चाहते लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं जीवन के गहरे सूत्रों का कोई पता नहीं जब तक मन है तब तक वर्ग विहीन समाज बन नहीं सकता क्योंकि मन वर्ग का निर्माता है धन का सवाल नहीं है धन बढ़ जाए तो भी वर्ग विहीन समाज निर्मित ना होगा तुम्हारे पास बराबर धन बांट दिया जाए तो भी वर्ग विहीन समाज निर्मित ना होगा क्योंकि मन ऊपर नीचे रखने की आदत है तब भी किसी को सुंदर कहोगे किसी को असुंदर किसी को बुद्धिमान किसी को कुरूप किसी को योग किसी को अयोग और जल्दी ही जो बुद्धिमान है वो ज्यादा धन इकट्ठा कर लेगा जो बुद्धिहीन है वो धन खो देगा ज्यादा देर न लगी कि सुंदर के पास धन चला आएगा कुरूप के हाथ से धन खो जाएगा कितनी देर लगेगी वर्ग के वापस लौट आने जब तक मन है तब तक वर्ग के आने के लिए दरवाजा खुला है वर्ग विहीन समाज कम्युनिस्टों के द्वारा निर्मित नहीं हो सकता वर्ग विहीन समाज तो सिर्फ योगियों के द्वारा निर्मित हो सकता इसलिए करीब करीब असंभव है क्योंकि जब सारी पृथ्वी योग में निष्णात हो जब सारी पृथ्वी अमन की हालत में पहुंच जाए जहां मन समाप्त हो जाएगा तब वर्ग विहीनता आएगी उसके पहले वर्ग विहीनता का कोई उपाय नहीं यह दूसरा तथ्य समझ लेने जैसा कि क्यों इस फकीर को एक कसाई की बात सुनकर ज्ञान उपलब्ध हो गया कसाई ने ऐसी बेबूझ बात कही कि मन उसे पकड़ ही ना पाया वो पहेली हो गई उसी पर ध्यान लग गया और कसाई ने एक ऐसी बात कही जो कि इस जगत के संबंध में सत्य है इस परमात्मा के जगत में सभी कुछ सर्वश्रेष्ठ है यहां कोटियां हैं ही नहीं यहां नीचे ऊपर रखने का उपाय ही नहीं यहां सभी कुछ ऊपर है यहां नीचे जैसी कोई घटना ही नहीं घटती ये दूसरी बात है कि तुम्हें कुछ नीचा दिखाई पड़ता है और तुम्हें कुछ ऊंचा दिखाई पड़ता है ये तुम्हारे देखने की बात है ये तुम्हारा नजरिया है ये तुम्हारी आंख है जो कोटियां पैदा करती लेकिन ज्ञानी के देखने का ढंग ऐसा है कि कोटियां खो जाती हैं वो देखता है कोटियां खो जाती इसलिए ज्ञानी निर्णय नहीं लेता ज्ञानी न्यायाधीश नहीं बनता जीसस ने जगह जगह दोहराया है अपने शिष्यों को कहा है जज ई नॉट तुम निर्णायक मत बनो तुम न्यायाधीश मत बनो प्रसिद्ध कहानी है कि गांव में स्त्री को लोग जीसस के पास लेके आए क्योंकि उसने व्यभिचार किया था और नियम था पुरानी किताब में कि व्यविचार करने वाली स्त्री को पत्थर मार के मार डाला जाए सारा गांव उसे मारने को उत्सुक था ये वही लोग थे जो व्यविचार करने को भी उत्सुक रहे होंगे शायद मारने को इसलिए उत्सुक थे कि व्यविचार किसी और ने कर लिया था इनका मौका चूक गया था ये सभी व्यविचार में भी प्रतियोगी थे और कुल क्यों लगा के खड़े रहे होंगे ये चुप गए थे और नाराज थे क्रोधित थे लेकिन क्रोध भी सुंदर रास्ते खोजता है ये इस, इसको मार डालना चाहते थे इस स्त्री ने इन्हें पराजित किया था और इस स्त्री ने इन्हें प्रलोभित भी किया था आकर्षित भी किया था इनकी वासना को भी जगाया था और इनकी वासना तृप्त भी नहीं हो पाई थी सारा गांव नाराज था बूढ़े बड़े जवान सब पत्थर लिए नदी के किनारे उस स्त्री को मारने को तैयार थे जीसस उस नदी के किनारे बैठे हैं तो लोगों ने कहा कि जीसस से भी हम पूछ लें और यह अच्छा मौका है जीसस को भी फांस लेने का यह स्त्री तो फंसी गई है और इसको हम मार डालेंगे जीसस को भी फांस लेने का अच्छा मौका है अगर जीसस कहे कि पुरानी किताब गलत है तो यह पत्थर दोनों का ही अंत कर देंगे यह आदमी खतरनाक है और इस तरह की बातें बोल रहा है कि पुराने शास्त्र के विपरीत और अगर जीसस कहे कि पुराना शास्त्र सही है तो हम स्त्री को तो मार डालेंगे फिर हम जीसस को कहेंगे तुम्हारी शिक्षाओं का क्या होगा क्योंकि तुम कहते हो जो तुम्हारे गाल पे एक चांटा मारे दूसरा सामने कर देना और तुम कहते हो कि प्रेम ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है और तुम कहते हो विनम्र की विजय होगी हिंसा के तुम विरोधी हो युद्ध के तुम पक्षपाती नहीं शांति का तुम्हारा संदेश है तो फिर तुम कैसे राजी होते हो इस स्त्री को पत्थर मार के मार डालने के लिए ये तो हत्या है ये तो घृणा है तो हम दोनों तरफ से जीसस को फांस लेंगे लोगों को पता नहीं था कि जीसस को फांसना मुश्किल जिसके पास मन नहीं उसको फांसना बहुत मुश्किल है क्योंकि मन ही फंसता है उन्होंने जाल तो फेंका बढ़िया और सीधा तार्किक जाल था क्योंकि दो ही उपाय थे या तो कहो कि पुरानी किताब ठीक है स्त्री को मार डालने तो भी फंसते हो या कहो कि पुरानी किताब गलत है और स्त्री को माफ कर दो प्रेम करो सम्मान करो निर्णय मत करो जज ई नाट तो फिर हम तुम्हें भी मारे डालते हैं पुरानी किताब के तुम भी दुश्मन तो जैसा व्यविचार इस स्त्री ने किया है वैसे ही अनाचार को तुम फैलाना चाहते हो तुम भी पाप के साथी हो लेकिन जीसस ने क्या कहा जीसस ने कहा कि पुरानी किताब बिल्कुल ठीक है मैं पुरानी किताब को नष्ट करने नहीं आया मैं पुरानी किताब को सिद्ध करने आया हूं लेकिन पुरानी किताब में एक बात छूट गई जो मैं तुम्हें बताता हूं और वो ये कि पहला पत्थर वही आदमी मारे जिसने कभी व्यभिचार न किया हो और व्यभिचार का विचार न किया हो उन आदमियों को तो हक नहीं हो सकता पत्थर मारने का जो खुद व्यभिचारी है तो जो तुम्हारे भीतर व्यभिचारी ना हो वो आगे आ जाए तो जो सामने खड़े थे बड़े बूढ़े पंचायत के प्रमुख गांव के मुखिया वो भीड़ में पीछे सरकने लगे क्योंकि भीड़ एक एक को जानती थी छोटे गांव का एक मजा भी था और एक खतरा भी क्योंकि हर आदमी हर आदमी को जानता है बड़े गांव में तुम सकलन झूठी कर सकते हो छोटे गांव में बहुत मुश्किल है छोटे गांव में तुम्हारा हर दांव पेंच पता है छोटे गांव में कुछ भी छिप नहीं सकता है हर आदमी की जिंदगी खुला अखबार लोग इतने करीब करीब हैं कि तुम क्या करोगे हर आदमी जानता है कौन वैश्या के घर जाता है कौन पराई स्त्री के प्रेम में है कौन क्या कर रहा है सबको पता है छोटे गांव में एक परिवार जैसा है संसार है जहां छिपाना मुश्किल ये फायदा भी है और खतरा भी है खतरा यह है कि कोई प्राइवेसी कोई निजता कोई स्वतंत्रता छोटे गांव में संभव नहीं छोटे गांव में एक तरह की पराधीनता है और गुलामी दुनिया में स्वतंत्रता आई बड़े गांवों के बनने के बाद छोटा गांव खतरनाक है हर आदमी के पंजे तुम्हारी गर्दन पे तुम कोई निजता का जीवन नहीं जी सकते कुछ भी प्राइवेट नहीं सब पब्लिक है गांव छोटा था हर आदमी हर दूसरे आदमी को जानता था कोई आदमी दावा नहीं कर सकता था कि मैं कभी व्यविचार नहीं किया पूरा गांव कहता कि अरे हमारे सामने और ये कहने की हिम्मत कर रहे न केवल लोग पीछे हटने लगे लोगों के हाथ में जो पत्थर उठ गए थे वो भी गिर गए थोड़ी देर में भीड़ नदारत हो गई थी वे जो मारने आए थे व्यविचारणी स्त्री को वे जा चुके थे क्योंकि उनमें एक भी पत्थर उठाने के योग्य न थे अक्सर ऐसा होता है कि पापी ही पापियों को मार डालने को उत्सुक होते हैं पुण्यात्मा तो पापी को मारने का विचार भी नहीं कर सकता सच तो यह है कि पुण्यात्मा पापी पापी है यह निर्णय भी नहीं ले सकता वही पुण्य की प्रतिभा है वही पुण्य की गरिमा जब सभी जा चुके हैं स्त्री ही बाकी रह गई और जीसस उस नदी तट पर तो उस स्त्री को बोध हुआ कि इस आदमी ने न केवल मुझे बचाया इस आदमी ने ऐसी आंखों से भी मुझे नहीं देखा कि जिसमें निंदा हो कंडेमनेशन हो तो उस स्त्री ने कहा कि तुम्हारे सामने मुझे कहने में संकोच नहीं मैं स्वीकार करती हूं कि मैं पापनी हूं मैं स्वीकार करती हूं कि मैं व्यभिचारिणी हूं ध्यान रहे जब तुम निंदा से नहीं देखते तो तुम दूसरे को इस योग्य बनाते हो कि वह अपने पापों को स्वयं स्वीकार कर सके जब तुम्हारी आंखों में क्रोध नहीं होता और जब तुम्हारी आंखों में नरक भेज देने का भाव नहीं होता तो तुम दूसरे आदमी को सबल बनाते हो कि वो कह सके सत्य तुम दूसरे को सत्य होने का मौका देते हो यह भी पुण्य है दूसरे को सत्य होने का मौका देना बड़े से बड़ा पुण्य है लेकिन जब तुम निंदा करते हो तो तुम दूसरे को छिपाने के लिए अवसर देते हो तुम दूसरे को झूठा होने का अवसर देते हो यह पाप है इसलिए जीसस कहते हैं तुम निर्णय मत करो तुम न्यायाधीश मत बनो कौन ने तुम्हें न्यायाधीश बनाया है कि तुम कहो कि क्या पाप है क्या पुण्य कौन बुरा है कौन भला है कौन साधु कौन असाधु तुम चुप रहो उस स्त्री ने कहा कि मैं पापी हूं मैं व्यविचारणी हूं आप जो भी सजा मुझे देना चाहें दें ये मेरी गर्दन झुकी है जिस उसने कहा कि मैं कौन हूं तेरा निर्णय करने वाला ये तेरे और तेरे परमात्मा के बीच की बात है इसमें मैं बीच में खड़े होने वाला कौन लेकिन अगर तू सोचती है कि तूने कुछ गलत किया तो अब उस गलत को मत करना लेकिन ये अगर तू सोचती ये मेरा आदेश नहीं अगर तू सोचती है कि तूने कुछ गलत किया और ये समझ तेरे भीतर जगी है तो तू गलत अब मत करना मैं तुझे पापनी नहीं कहता और व्यविचारनी नहीं कहता मैं कौन हूं जीसस जैसे व्यक्ति को सभी कुछ सर्वश्रेष्ठ है पापी भी पुण्यात्मा भी सर्वश्रेष्ठता कोई तुलना से मिली हुई बात नहीं है सर्वश्रेष्ठता प्रत्येक का स्वभाव है अगर परमात्मा सभी के भीतर है तो यह कसाई ने गजब की बात कही सभी सर्वश्रेष्ठ होगा ही अगर परमात्मा ही धड़कता है तुम्हारे हृदय में अगर वही देखता है तुम्हारी आंखों से तो चाहे तुम चोरी करो चाहे व्यविचार और चाहे तुम मंदिर जाओ मस्जिद जाओ या ग्रह क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी सर्वश्रेष्ठा अक्षुण तुम्हारे भीतर जो छिपा है उसके मैले होने का उपाय नहीं वो सदा धुला हुआ है सभ्य स्नात सदा नहाया हुआ है उसकी पुण्यता में क्षण भर भी क्षण भर के लिए भी कण भर की कमी नहीं हो सकती यही परम ज्ञानी की दृष्टि है परमहंस की अब हम इस कहानी को समझने की कोशिश करें जेन साधक बंजान बाजार से गुजर रहा था साधक है अभी सिद्ध नहीं अभी चल रहा है मार्ग पर पहुंच नहीं गया लेकिन साधक है सोच नहीं रहा है साधना के संबंध में कुछ लोग साधना के संबंध में सोच के सोचते हैं कि साधक हो गए वो अक्सर सोचते रहते हैं ध्यान करना है प्रार्थना करनी है संन्यास लेना है और सोचते हैं साधक साधना के संबंध में सोचने से कोई साधक नहीं होता साधना करने से कोई साधक होता है करने से ऊंट पर वजन पड़ता है फिर कभी तिनका बिठा देता है करने से आग पैदा होती है सोचने से नहीं और कभी आखिरी उष्णता आ जाती है और आदमी भाप हो जाता बंजान बाजार से गुजर रहा था पहली बात बंजान साधक वो कुछ कर रहा है वर्षों से शायद जन्मों से वो बैठ के सोचता नहीं रहा चला है मार्ग पर और जैसे आखिरी घड़ी करीब आ गई साधक वहां है जहां सिद्ध पैदा हो सकता है एक ना एक दिन वो घड़ी तुम्हारी भी आएगी जल्दी आ सकती है अगर तुम श्रम अपनी शक्ति पूरी लगा दो अभी आ सकती इसी क्षण आ सकती अगर तुम बिल्कुल न बचाओ और पूरे के पूरे उसमें प्रवाहित हो जाओ जितना तुम अपने को बचाओगे उतनी देर लग जाएगी क्योंकि बिना तुम्हारे पूरे उतरे घटना नहीं घट सकती तुम नदी में उतरते भी हो तो ऐसे कि जरा सा पंजा तुमने उतार दिया पानी में बाकी पूरे तुम नदी के बाहर खड़े हो कैसे होगा स्नान और ये स्नान ऐसा है कि डूब के मिट्टी ना जाओ तो स्नान हो नहीं सकता कभी तुम बहुत हिम्मत भी जुटाते हो तो गर्दन तक जाके खड़े हो जाते बहुत लोग इतनी हिम्मत जुटा लेते कि गर्दन तक इसके आगे डरते लेकिन असली चीज तो खोपड़ी है जब तक वो ना डूबे कुछ नहीं डूबता गर्दन तक तो सब हिस्सा बेकार है बेकार इस अर्थों में को उसके डुबाने से कुछ हल नहीं होता उसने कोई सवाल उठाया भी नहीं उसकी वजह से कोई झंझट भी नहीं असली झंझट तो खोपड़ी की है लेकिन खोपड़ी को तुम बचाना चाहते हो तो तुम पानी में गर्दन तक चले जाते हो साधना में भी गर्दन तक चले जाते हो और जहां गर्दन कटने का वक्त आता है वहीं से लौट आते जहां गर्दन के डूबने का डर पैदा होता है कि अब तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा कि अब तो प्राण गए गए अब तो किसी भी क्षण डूब जाएंगे बस वहीं से तुम भाग खड़े होते हो मिटने के डर से तुम भाग आते हो और मिटे बिना कभी कोई पहुंचा नहीं जब तक तुम मिटे नहीं तब तक साधक हो पर मिटने की चेष्टा कर रहे हो जिस दिन मिट गया उस दिन तुम सिद्ध हो बंजान बिल्कुल निन्यानबे डिग्री का साधक रहा होगा और जब तक घटना ना घटता है तुम बता नहीं सकते कि कब निन्यानवे डिग्री आई ये मुश्किल है इसलिए अनप्रडिक्टेबल कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती